Vocabulary Builder 2. आपका नाम क्या है What's your name? आपका नाम क्या है आपका नाम क्या है मेरा नाम रीमा है My name's Rima. मेरा नाम रीमा है मेरा नाम रीमा है मैं दिल्ली से हूं आई एम फ्रॉम डेली मैं दिल्ली से हूं मैं दिल्ली से हूं क्या हाल है How's इट गोइंग इनफॉर्मल क्या हाल है क्या हाल है आपसे मिलकर खुशी हुई प्लेजर मीटिंग यू आपसे मिलकर खुशी हुई आपसे मिलकर खुशी हुई मुझे भी सेम हियर मुझे भी मुझे भी और आप And you? और आप और आप रिया प्रोफेसर है Riya is a professor Riya professor है रिया प्रोफेसर है